व्यक्ति अपने दोषों को नहीं जानता उनको नहीं रोक सकता और अपने जीवन में गुणों का आधान ग्रहण नहीं कर सकता यदि सूक्ष्मता से देखा जाए तो व्यक्ति क्षण क्षण भर में आत्मनिरीक्षण करता है और मानसिक स्तर पर क्षण क्षण भर में जीवन में मोड़ आता जाता है अब हम ईशावास्यम इदम सर्वम मंत्र से ईश्वर की स्तुति करेंगे साथ साथ बोलेंगे एक एक शब्द बोलेंगे ओम अग्ने व्रतपते व्रतम सरिष्यामी तच्छकेयम तन मे राध्यता इदम अहम अंद्रीदात सच सत्यम उपयनी जो हम आज व्रत पत्र उपलब्ध कर पाए हैं वो इसी मंत्र के आधार पर है इस मंत्र के कठिन शब्द नहीं है और बार बार जिस मंत्र को सुनते हैं वो मंत्र सरल लगने लग जाता है सरल भाषा में देखो और ध्यान दो अग्नि नाम ईश्वर का है अग्नि नाम प्रकरण के अनुसार चूल्हे की अग्नि का प्रकरण होगा तो चूल्हे की अग्नि ली जाती है प्रकरण के अनुसार जीवात्मा का प्रकरण होगा तो जीवात्मा को भी अग्नि शब्द से लिया जा सकता है इसलिए वैदिक परंपरा में प्रकरण के अनुसार एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं यहां पर जो अग्नि शब्द आया है वह ईश्वर के लिए आया है अग्नि शब्द के रूप चलाएंगे हम अग्नि अग्नि अग्नय और उसका संबोधन में बनेगा अग्नि क्या बनेगा संबोधन में अग्नि ईश्वर को अग्नि बोलते हैं निरुक्तकार ने एक व्याख्या की अग्नि का क्या अर्थ है वो कहते हैं अग्नि अग्रणी भवती जो अग्रणी होता है उसको अग्नि बोलते हैं और लोक में भी भाई अमुक व्यक्ति तो हमारा अग्नि है बोलते हैं ये तो हमारा नेता है अग्नि है और लोकमत प्रकाश भी हमारा अग्नि है कार चलती है तो प्रकाश वहां पर अग्नि है ईश्वर अग्रणी है हमारा आचार्य है मार्गदर्शक है जीवों का संचालन संकेत मार्गदर्शक ईश्वर है अग्नि व्रतपते दूसरा शब्द क्या है अब व्रत शब्द की जो व्याख्या चलती है और विविध लोग व्रत से जो अर्थ का ग्रहण करते हैं उनमें और वैदिक परंपरा में अंतर देखना चाहिए एक प्रकरण में आता है एकादश्याम अन्य पापानी बसंती इसका क्या अर्थ है नहीं आया एकादश्याम अन्य पापानी बसंती इसका क्या अर्थ है एकादशी की तिथि के दिन अन्न में पाप रहती है उस दिन जो अन्न खाता है वो पाप का भागी बनता है तो और लोगों के व्रतों में और वैदिक रीति के व्रतों में अंतर देखिए अच्छा आपने यहां संतोषी मां का व्रत भी होता है कोई जी होता है उसमें गुड़ खाते हैं उसमें वो चने और गुड़ मिला मिला के खाते हैं और जो उसके इतने इतने पर्चे बांटता है वो माला माल हो जाता है आप भी करती होगी साथ इसके नहीं करती ये माताएं व्रत बहुत रखती एक वो क्या होता कड़वा चौथ है वो भी होता है यार क्या बोलते हैं उसको अच्छा उस दिन माताएं व्रत रखती हैं और कहती हैं आज हम व्रत रखेंगे तो पति की आयु बढ़ जाएगी ऐसा ही होता होगा ना जी पत्नी के व्रत रखने से पति की आयु बढ़ने में क्या कारण है बिना सिर पैर की बात नहीं तू करे सो मैं करूं मैं राजा का जप करूं व्यवहार बनू पड़ी कर आप स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बात कही जो लोग जप का अर्थ नहीं जानते न भजन का अर्थ जानते उनका जप कैसा होता है ऋषि ने ये चित्र खींचा व्यवहार भानु में कहने लगा भाई एक व्यक्ति बेचारा कंगाल दरिद्र हो गया जीविका चलानी मुश्किल हो गई और उसने सोचा कि भाई यू बैठे बैठे काम क्या चल सकता है कम से कम राजा के यहाँ कुछ जाके प्रार्थना करो कुछ पूजा उजा करवाओ कुछ जीविका चलेगी तो राजा के पास में चला गया चला गया तो कहेंगे राजा जी कुछ मेरे लिए जीविका चलाने का साधन करो तो कहेंगे फिर तू करेगा क्या कहेगा मैं जब करूंगा राजा ने पूछा तू किस बात का जब करेगा उन्होंने कहा कि मैं राजा का जब करूंगा राजा और राजी होगा कि राजा का जब से करेगा तो और मेरी छाती होगी राजा का जब करूंगा राजा का जब से दो अर्थ है दो कौन से राजा जो ओम का जब करता है वह ओम वाला जब राजा के स्थान पर करूंगा कुछ समझ में आई बात और दूसरी बात है राजा जो शब्द है ना राजा है जी राजा इस राजा शब्द का ही जब करूंगा मैं तो दो बात अलग अलग समझ में आई होंगी आप नहीं आई फिर हूं राजा का जब करूंगा राजा का जब करूंगा के दो अर्थ है राजा जो जब करता रहता है या करना चाहिए था वो कर नहीं पाता राजनीति के कामों में लगा रहता है राजा के स्थान को वो जब करेगा और राजा का जब ओम का हो गायत्री का हो एक तो ये अर्थ हुआ और एक ये है कि राजा का जब मतलब कमजोर राजा जो शब्द है ना राजा उसका जब करूंगा तो तो वो राजा ने कहा भाई ठीक है तू जब कर लेना तेरी जीविका बांध देंगे जो भी बीस तीस रुपए होते होंगे उस समय जो भी तो गंगा जैसी नदी पर जाके बैठ गया और बैठ गया तो उसको मासिक रुपया भी मिलने लग गया और उसका जब क्या था मैं राजा का जप करूं जी मैं राजा का जप करूं मैं राजा का जप करूं जी मैं राजा का जप करूं ये जप था उसकी जीविका चल गई पड़ोसी ने सोचा जब राजा उसका जब करवा सकता है जीविका चल सकी तो तेरी भी तो जीविका चल सकती है वो राजा के पास में पहुंच गया क्योंकि राजा जी मेरा भी तो कोई जीविका का साधन होना चाहिए क्या हो सकता है वो क्या सकता है वो करेगा जो मैं, मैं करूंगा जो वो गंगा के किनारे पर बैठा सो ही मैं करूंगा चल वो तू भी चला जा तेरा भी रुपया हो जाएगा वो जाके उसके पीछे बैठ गया वो कहता है तू करे सो मैं करूं जी तू करे सो मैं <laughs> तो उसको कोई पता नहीं नहीं तू करे सो मैं करूं जी तू करे तीसरे ने सोचा दो की तो जीविका का चरगी तेरी भी चलेगी वो भी पहुंच गया राजा ने सोचा एक पहले आया था एक दूसरा आया अब ये तीसरा आ गया राजा जी मेरी जीविका चलाओ राजा ने कहा ऐसा कब तक कब तक नहीं बहगा ये बोल दिया एक के पीछे दूसरा आया ऐसा कब तक नहीं बहगा अच्छा चलो जब तक नहीं बहगा तब तक तो क्या करेगा तो वो कर लो आप भी वही करना वो जाके बैठ गया ऐसा निभेगा कब तक ऐसा निभेगा जब तक ऐसा निभेगा कब तक ऐसा निभेगा जब तक वही व्रतों का कोई सिर पैर नहीं तू करे सो मैं करूं मैं राजा का जब करूं ये व्रत के ऊपर व्रत ना सिर है ना पैर है भूखे मरते हैं कहते हैं हम बहुत बड़ा पुण्य कमा रहे हैं ध्यान दो इनका नाम व्रत नहीं है बिल्कुल बेकार की चीजें अब वेद का जो व्रत शब्द है उसको सुनिए अग्नि व्रत पते व्रतम चरिष्यामी ये व्रतों का पालन करने वाले प्रकाश स्वरूप ईश्वर है व्रतम चरिष्यामी अग्नि व्रत पते परमात्मा व्रत पति है क्या है व्रत पति का अर्थ है जो व्रतों का पालन करता है उसको व्रतपति कहते हैं पति कहते हैं पालन करने वाले को व्रत पति स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने इसकी व्याख्या की व्रत शब्द की सत्य ही जानना सत्य ही मानना सत्य ही बोलना और सत्य करना इसका नाम व्रत है सत्य ही मानना सत्य ही बोलना सत्य ही करना इसका नाम इसका विपरीत असत्य न मानना असत्य न बोलना और असत्य न करना ये दोनों बातें जुड़ती है अर्थात इसके ऊपर तो आरूढ़ हो जाना और असत्य को इसका नाम व्रत है अग्नि व्रत पते व्रतम चरी श्यामी अगला क्या पद है व्रतम चरी श्यामी जीवात्मा बोल रहा है हे प्रकाश स्वरूप ईश्वर है सदा सत्य मानने जानने बोलने वाले व्रतम चरी श्यामी मैं व्रतों का पालन करूंगा कौन बोल रहा है ये जीवात्मा क्या कहता है हे प्रकाश स्वरूप ईश्वर है व्रतों का पालन करने वाले हैम अपि मैं भी व्रतम चरिष्यामी मैं व्रतों का पालन करूंगा तत्सकेयम तत् उसको मैं कर सकू क्या कहा उसको मैं कर सकू जीवात्मा जो संकल्प करता है व्रतों का धारण करता है प्रतिज्ञा करता है वो ईश्वर की सहायता के बिना उनका पालन नहीं कर पाता किसी न किसी प्रकार से उन व्रतों के तह में जड़ में आश्रय देने वाला ईश्वर रहता ही रहता है कहीं न्यून कहीं अधिक जीवात्मा की कितनी शक्ति आप जानते हो या नहीं जानते थोड़ा सा जान लो यदि जीवात्मा की शक्ति को आपने जान लिया तो आपका मिथ्याभिमान ठहर नहीं पाएगा अन्यथा मिथ्याभिमान दूर नहीं होगा जीवात्मा की इतनी शक्ति है अपनी यदि परमात्मा इसको शरीर ने देवे इंद्रिया ने देवे तो जीवात्मा अपनी शक्ति से करवट नहीं बदल सकता इतनी शक्ति है बताओ क्या समझे सकते जी करवट नहीं बदलता हैं इतनी शक्ति है जीवात्मा और अब ईमान कितना आप जानते हो वैसे तो ईमान को लोग गाली देते हैं और स्वयं अब ईमान खूब करते हैं ये बड़ी जगह ही वो जिंदगी बात दे, देखी नहीं आपने अब ईमान को कोई अच्छा नहीं कहता पर अब ईमानी सारे के सारे जीवात्मा का अपना बल अपनी शक्ति है अपनी नैतिक शक्ति है अपनी व्यक्तिगत शक्ति है पर वो शक्ति इतनी कम है इतनी कम है उसे करवट भी नहीं बदल सकता ये अब ज्ञान को ले लो ज्ञान कितना है जीवात्मा का ज्ञान है जीवात्मा में जीवात्मा में स्वाभाविक ज्ञान अपना है व्यक्तिगत और वो ज्ञान कितना है इसको याद कर लो जब तक परमात्मा उसको वेदों का ज्ञान नहीं देता जब तक परमात्मा उसको शारीरिक सारी चीजें नहीं दे देता इस दृष्टि को नहीं बनाता तब तक जीवात्मा अपने ज्ञान से कुछ नहीं कर सकता ज्ञान इतना है बस ध्यान दो यदि हम इन बातों को सोचते हैं तो व्यक्ति का अभिमान चूर चूर हो जाता है मैंने बहुत विचार किया ये मेरे मन में जो वैराग्य कैसे हुआ था ये बड़ी लंबी चौड़ी कथा है उस समय मैं कैसे सोचता था कैसे विचारता था बड़ी विचित्र बातें हैं मैं इस शरीर को देखता था और मैं कहता था ये मैं कहता हूं मेरा शरीर है मैं बहुत अच्छा हूँ मैं बहुत तगड़ा हूँ मैं सोचने लगा मेरा शरीर कहां से आ गया मैं तो उंगली नहीं बना सकता मैं इसका नाखून नहीं बना सकता माँ भी नहीं बना सकती मेरा मेरा मेरा मेरा ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं इस तय में पहुंच गया कि मैं व्यर्थ ही ये कहता हूं मेरा शरीर है मैं शरीर के विषय में कुछ नहीं जानता ये आप जानते हो बता दो मुझे आज का कोई वैज्ञानिक भी शरीर की पूरी विद्या को नहीं बता पाया न जान पाया पर याद रखना जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है क्या याद रखोगे इसको नहीं भूलना और उसको भी नहीं भूलना हाँ दो को किसको नहीं भूलना एक नहीं इनका परीक्षण होने दो ये ध्यान नहीं देंगे नहीं तो फिर इसको भी नहीं भूलना और एक और दूसरे पक्ष में कर्म करने में दोनों को नहीं भूलना कुछ लोग एक को भूल जाते हैं एक को याद रखते हैं वहां गड़बड़ होती है वो जीव आत्मा बिना ईश्वर की सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकता इसको तो याद रखते हैं और जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है इसको भूल जाते हैं भाई यही आपत्ति खड़ी हो जाती कान खोल के सुनो वो कहते हैं जो कुछ हम करते हैं भगवान ईश्वर करवाता है ये वो भूल जाते हैं ये बिल्कुल गलत बात है जो हम करते हैं स्वतंत्रता से करते हैं परमात्मा की कोई उसमें प्रेरणा धक्का कुछ नहीं होता आपने सुना होगा हजारों लाखों लोग कहते भाइयों बहनों सुनो जो कुछ हो रहा है वो भगवान की ईश्वर की कृपा से हो रहा है और राई घटे तिलबड़ है जो करवा रहा है भगवान करवा रहा है ईश्वर करवा रहा है आपने नहीं सुना क्या आप क्या मानते हैं अपना भी तो निर्णय दो ईश्वर जो है वो जीवात्मा से कुछ नहीं करवाता जीवात्मा स्वतंत्र रूपेण करता है इसलिए इसमें कोई ये कहे कि ये ईश्वर करवा रहा है गलत बात है सभी उसके ऊपर थोपते जाते हैं डाका मरे इतना आतंकवादी ने डाका मारा वहां गोली से फलाने को मार दिया कहते जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की कृपा से हो रहा है बिल्कुल गलत है ईश्वर ने हमको शरीर दे दिया आंख नाक दे दी भूमि पृथ्वी सब कुछ दे दिया और फिर कहा बेटा अब अपना काम करो तुम आजाद हो परीक्षा भवन में बैठो परीक्षक ने छोड़ा के लिखो कोई नहीं पूछना ताजना तीन घंटे तक वो लिखने में स्वतंत्र है उल्टा लिखे सीधा लिखे नहीं लिखे अंक पानी में स्वतंत्र है ये समन्वय है संबंध जोड़िए एक और ये भी जानिए कि बिना ईश्वर की सहायता के हम कुछ नहीं कर सकते एक पक्ष एक और ये भी जानिए कि सारी शक्ति ईश्वर ने हमको दे दी है अब हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं दोनों का समन्वय और ये समाज करता है और कोई संस्था नहीं कर सकती कभी देख लेना तुलनात्मक अध्ययन कर लेना हमने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई ये बताओ ये जो कोई तो पुरुष बन गया कोई स्त्री बन गई कोई कुत्ता बन गया कोई बिल्ली बन गई ये क्या बात है वो कहने लगा जी खुदा की मर्जी है जिसको चाहे जो बना देता है उनका बिना कर्म के हाँ हाँ खुदा जिसको चाहे कुत्ता बनाए खुदा जिसको चाहे गधा बनाए खुदा ये इनका सिद्धांत है क्या समझ में आया नहीं आ समझ में आप बताओ जो ऐसा ईश्वर है उसमें न्याय कहां जाएगा ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति कितनी बचकी हुई बातें करता है अच्छा ये भाई चिल्लाते हैं जो करोड़ों रुपया खर्च करते हैं डींग मारते हैं अपना सिर पैर की चोटी तक का भाई और बहनों सुनो क्या यदि तुम शांति चाहते हो कलेशों से बचना चाहते हो तो आओ और कहा है ईसा मसीह की शरण में आ जाओ ईसा मसीह के समर्पित हो जाओ जो ईसा मसीह के समर्पित हो जाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं उसको नहीं भोगने पड़ते और भाग भाग के लोग ईसा मसीह की शरण में जाते हैं कहते बहुत अच्छा सस्ता सौदा है तो नहीं? उनके शरण में जाने से सारे पाप नष्ट तो समझ रखिए ईश्वर का हमारा ये संबंध बिल्कुल नहीं है ईश्वर ने हमको शक्ति दी है हमें आंख नाक दिया है जीना उसी के आधार पर कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं फल भोगने में परतंत्र हैं समन्वय रखिए आप दोनों का समन्वय होने से हमसे भूल नहीं होगी बिल्कुल हम ईश्वर को वैसा ही जानते हैं जैसा ईश्वर है पर ध्यान दो हम कहा चल रहे थे तच्छ के हम हे ईश्वर मैं उसको कर सकूं क्या समझे मैं अपने व्रत को निभा सकूं मैं अपने व्रत का पालन कर सकूं तन मेरा देताम आप उसको सिद्ध करवाओ आपको प्रातःकालिक बात बताई थी याद रखना जीवात्मा ने एडी से चोटी टिक्का जोड़ लगाया और वो संप्रज्ञात समाधि में पहुंच गया था और संप्रज्ञात समाधि में पहुंचने पर भी उसकी असंप्रज्ञात समाधि नहीं लग रही थी क्या समझे जीवात्मा प्रयास करते करते संप्रज्ञात समाधि में पहुंचा और असंप्रज्ञात समाधि उसकी लग नहीं रही थी उसने परिश्रम किया फिर परमात्मा की उसकी भक्ति क्या प्रेम तो परमात्मा ने जीवात्मा को ज्ञान दे करके समाधि लगवाई और अपना स्वरूप दिखा दिया ये है वो तक्ष के मैं उसको सिद्ध कर सकू आप मुझे ये शक्तियां दो इसलिए समन्वय करो हम स्वतंत्र हैं यद्यपि स्वतंत्र रहे भले ही पर बिना परमात्मा की सहायता साधनों के हम न तो ज्ञान विज्ञान की बात कर सकते और न कर्म का क्षेत्र को छू सकते ये भी साथ साथ जोड़ दो पर कर्म करने में स्वतंत्र है तक्ष के यम तन मेरा देताम वे सूर्य को सिद्ध करवाओ इदम हैम अनरिता सत्यम उपई वो व्रत क्या है अमृत को छोड़ के मैं सत्य के ऊपर आरूढ़ होता हूं इस अपने देश में आर्यावर्त देश में जितना सत्य को ऊंचा स्थान दिया गया है और माना गया इतना किसी देश में नहीं मिलेगा आज की बात छोड़ दीजिए आज हम कहां चले गए ये बात मैं नहीं कहता पर आदि सृष्टि से लेकर लाखों ऋषि हुए और राजा हरिश्चंद्र जैसे राजा होते हुए झूठ नहीं बोलते थे आश्चर्य की बात है और आज के राजनीति वाले क्या कहते हैं है जी विचित्र बात है उनकी राजनीति वाले आएंगे एक दल बनाएंगे भाइयों हमको मतदान दो तुम्हारा ये करेंगे वो करेंगे आकाश पाटाल को बदल के रख देंगे और कालांतर में पांच वर्ष के पीछे वो काम हुए नहीं उनसे जब नहीं हुए तो राजनीति वाले से पूछा था कि भाई आप पांच वर्ष में ये करेंगे वो करेंगे ये प्रतिज्ञाएं की थी वो आपने किया नहीं कहना देखिए राजनीति में कोई दोष नहीं आता हमने जो पहले कहा था वो भंग हो गया तो राजनीति में कोई दोष नहीं आता नहीं समझा कितना ही झूठ बोलो कितना ही छल करो जज कहेंगे ये तो राजनीति है दोष करते जाएंगे और जो कोई टोकेगा क्योंकि भाई ये तो राजनीति है सारे पाप करने का मतलब है राजनीति पाप करो और करवाओ इनकी कह रहा हूं हमारी वैदिक राजनीति नहीं आज की राजनीति का मतलब है सारे पाप करो करवाओ और कोई टोके तो कहो ये राजनीति है इसमें कोई दोष नहीं है ऋषियों की बात सुनो और यहां तक सुनो महात्मा गांधी जी की वो कहते हैं जिस राजनीति के साथ अथवा जिस राजनीति के आधार रूप में धर्म नहीं है वो राजनीति नहीं है जिस राजनीति में न्याय नहीं है वो राजनीति नहीं है इसलिए याद रखो आपने वो व्रत पत्र लिए हैं और व्रत लेके चलो संकल्प लेके चलो आप महान बनेंगे परिवार बदलेगा समाज बदलेगा राष्ट्र बदलेगा आज अपने देश की क्या स्थिति है ध्यान दो अपने परिवारों की क्या स्थिति है इस पर भी ध्यान दो आपके बच्चे बालक बालिकाओं की क्या स्थिति है इस पर ध्यान दो आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा आप व्रत लेंगे संकल्प लेंगे क्या आप में से कोई ऐसी मां या कोई पिता ऐसा संकल्प लेगा अपने बेटा बेटी को देश के लिए अर्पित करेगा अब एक भी आप नहीं करा बस यही रोग है ध्यान देना यदि ऐसा नहीं करते हम यदि ऐसा हम योजना नहीं बनाते तो देश देश की परंपरा वैदिक परंपरा हमारा सदाचार हमारी राजनीति हमारे हाथ से चली जाएगी आप सुनो ना सुनो आपको रोचक बातें अच्छी लग रही है ध्यान देना इन टेलीविजनों में जो नाच गाने चलाए जा रहे हैं वो हमारे हमको भ्रष्ट करने के लिए चलाए जा रहे हैं आश्चर्य की बात है कि कोई बालक बालिका युवा और बूढ़ा वो प्रातः काल से लेकर के सायकाल तक जिन चीजों को देखता है सोचता है पर उसमें आप देखेंगे कि हमारा चरित्र हमारा भोजन हमारे विचार बिल्कुल उल्टे होते जा रहे हैं क्या अनुभव नहीं करते आप आपके दस वर्ष के बालक और बालिकाएं और जो टेलीविजन के सामने गंदे से गंदे गाने सुनते हैं गंदे से गंदे नाच और पता नहीं क्या क्या आप जानते हैं उसको कोई रोकने वाला नहीं पिता उसको रोक नहीं पा रहा है और माता भी नहीं रोकती और बच्चा भी रोकने के लिए तैयार नहीं है बारह बजे तक वो टेलीविजन के नाच गाने सुनता है अपने व्यक्तिगत उसका जीवन कुछ नहीं है अपने समाज के लिए उसके लिए कुछ नहीं है माता पिता के लिए भी जो होता था वो समाप्त हो गया है राष्ट्र के लिए कुछ नहीं है आप देखो भाषा की देखिए हम जाते हैं नगरों में ध्यान देना अपनी भाषा संस्कृत होगी या हिंदी होगी या प्रांतीय भाषा होगी पर सबके ऊपर राजनीति की भाषा राज में राज भाषा जो है अंग्रेजी है विदेशी बनाने का षडयंत्र सारा का हिन्दी भाषी प्रांतों में सब जगह अंग्रेजी मिलेगी दुकानों का अंग्रेजी ही प्राय मिलेगी और सभी में अंग्रेजी दफ्तर में अंग्रेजी कार्यालयों में अंग्रेजी रेलवे विभाग में हम जाते हैं तो सारा अंग्रेजी होता है लिखा हुआ हिंदी जानने वाला बेचारा वहां टक्कर मारता रहे उसको देश के लिए हिंदी पढ़ने वाला बिल्कुल बेकार व्यक्ति है समझ लो अच्छी तरह से हमारा वैदिक योग वैदिक योग ऐसा नहीं है कि भाई का इन बातों को उठाए उठाए घूम रहे हो गुरुकुल चलाना ब्रह्मचारी को विद्वान बनाना और पता नहीं क्या क्या मैंने उत्तर क्या दिया था ये दिया था मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है मैंने योगाभ्यास किया है और सफलता मिली है शांति भी मिल गई पर मैं अपनी को सुखी देखूं और इसे दूसरों को दुखी देखता रहूं मैं इसका सहन नहीं कर सकता ये हो ही नहीं सकता कई लोग भ्रम से यह कहते योगी तो स्वार्थी होते हैं बिल्कुल की बात है यदि स्वार्थी है तो योगी नहीं योगी है तो स्वार्थी नहीं विरोधी तत्व है दोनों क्या समझ में आया नहीं आया पूछूंगा तो नींद भी नहीं आएगी नहीं तो नींद सो जाओगे आप यदि योगी है तो स्वार्थी नहीं स्वार्थी है तो योगी और स्वार्थी है दोनों टक्कर की बातें एक साथ नहीं रह सकती आपको पता है मैं इस कोने से उस कोने तक जाता हूं विमान में नहीं जा सकता वो भी कोई साधन नहीं हमें अपने झोले उठाते कई बसों में और कई रेल में यहां आए फिर गुजरात चले गए फिर कर्नाटक चले गए और विद्यालय को चलाते हैं और आप लोग तो जानते नहीं आपको पता नहीं इन बातों का ये क्यों जो कि योग विद्या वो विद्या है जो कि समाज को राष्ट्र को परिवार को नीचे नहीं देखना चाहता व्यक्ति उसका स्वभाव परमात्मा जैसा होता है योगी का परमात्मा सबकी उन्नति चाहता है सब उसके पुत्र है तो योगी के भी सारे के सारे परिवार है पूरा का पूरा इसलिए वेद मंत्र का टुकड़ा क्या है किरणवंतो विश्वम आर्य विश्व को आर्य बना दो तो ध्यान दो अपनी योग विद्या व्यक्ति को देखती है समाज को देखती है राष्ट्र को देखती है विश्व को देखती है हमारा लंगड़ा योग नहीं है केवल ऐसा मान लिया जाता है कि पहाड़ों में जाके बैठ जाओ जंगल में जाके बैठ जाओ और वहां थोड़ा सा जप वप कर लो न पढ़ना न लिखना न गवेषणा करनी न संगठन बनाना राजा कोई भी बने हमको क्या मतलब ये बेकार की है आपने साधु लोग देखे जंगलों में पहाड़ों में नहीं देखे आपने है हाँ जी देखे होंगे ना तो इसलिए हम आज इन संकल्पों के माध्यम से इन संकल्पों को हम किसकी ढंग से लेते हैं याद रखना व्यक्तिगत अपना जो जीवन है वो ऊंचा उठे हम कहां से चलेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बात कही संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना ध्यान दो लड़कियां बुरा तो नहीं मानेंगी ना नहीं मानेंगी बम्बी में मैंने लड़कियों को देखा वो ऐसी ऐसी लकड़ी की तरह पतली पतली पतली पतली दिखाई दी हाँ मैंने कहा भाई क्या बात है बम्बई की लड़कियां जवान लड़कियां बीमार चल रही हैं क्या <laughs> तो उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा भाई बात ऐसी है आजकल पतला जो होना है वो बहुत सुंदर माना जाता है पतला पतला लक्कड़ की तरह इसलिए लड़कियां पतली पतली पतली पतली बनाती हैं और अपना सौंदर्य उनको दिखता है अब बताइए ये लक्कड़ की तरह बैठवी की तरह ना मोटा ना मोटा ये क्या सौंदर्य इसमें कहा है महर की दान सरस्वती जी अब तो कपड़े पहनने जब यहां अकेले बैठे हैं लंगोट बांधे देखो कितना सुंदर शरीर दिखता है? आयुर्वेद में एक प्रकरण आया है उसने ये प्रसंग उठा दिया कि भाई मोटा व्यक्ति अच्छा या पतला अच्छा क्या प्रसंग उठाया उसने कहा ने तो मोटा व्यक्ति अच्छा होता और ने संतुलित शरीर वाला फिर गंगा अच्छा ये तो बताओ कम से कम मोटे और पतले में दोनों में कौन सा अच्छा ये तो दोनों खराब आयुर्वेद का सुन लो हमारा विज्ञान ये काम नहीं कर रहा आयुर्वेद के आचार्यों की बात सुनेंगे हम उन्होंने कहा भाई मोटा शरीर भी अच्छा नहीं अच्छा आजकल सुना आपने नहीं बोलना मैं पूछू नहीं बोलना आपने बस इसमें आप आजादी से नहीं बोल सकते मैं पूछो जो बोलना बस तो उसमें उन्होंने उठाया प्रसंग कि भाई मोटा व्यक्ति भी अच्छा नहीं आपने देखा उथल पुथल होते चलते हैं लोग ऐसे न चल सकते न फिर सकते बिल्कुल लोचने की तरह और दूसरे व्यक्ति तिड़के की तरह लकड़ी न छाती का पता न पीठ का पता ऐसे तो उन्होंने कहा कि भाई बात ऐसी है ना तो मोटा व्यक्ति अच्छा होता अति मोटा और ना अति पतला पर अपेक्षा करे तो मोटे से पतला अच्छा होता है <laughs> अपेक्षा करे तो, वो भाग दौड़ के बचाव तो कर ले मोटे को तो भाग्या भी नहीं जाता पर अब सुनिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं वस्तुतः याद रखना व्यायाम करना अच्छा भोजन खाना ब्रह्मचरी का पालन करना शरीर को बहुत बलवान और अच्छा बनाना चाहिए इसके बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता इसलिए शारीरिक है व्यक्तिगत इसी प्रकार से व्यक्ति के लिए उपासना आवश्यक है इसी प्रकार से व्यक्ति के लिए स्वाध्याय आवश्यक है व्यक्तिगत जीवन जो है वो आगे परिवार को अच्छा बनाता है एक ग्रह की ग्रह समझ आता है पढ़ लिख करके वो शरीर से स्वस्थ है बुद्धिमान है धार्मिक है तो वो गृहस्थ आश्रम आनंदमय होगा स्वर्ग बन जाएगा अन्यथा नहीं बन पाता तो एक चर्चा मेरी आपके सामने है व्यक्तिगत उत्थान प्रातःकाल ठीक समय पर उठना और ठीक समय पर अपने उपासना और व्यायाम करना स्वाध्याय करना भोजन अच्छा खाना देखो आजकल भोजन की इतनी गड़बड़ चल पड़ी है कि खान पान की कोई सीमा नहीं आप में से कोई ऐसी चीज तो नहीं खाता अंडे वंडे खाता है क्या कोई आप में नहीं और ये आपके जो बच्चे हैं ना विद्यालय में जाते हैं विद्यालयों में ही बताते अंडे खिलाते हैं और विदेश से डॉक्टर लोगों की सूचना चल रही है पढ़ के देखो अंडे खाने से मौत मांस और अंडे के इतने दोष दिखाए जा रहे हैं और ये मांस अंडे के पीछे पड़ रहे हैं लोग ये भी ध्यान दो भोजन के अंदर दो तरह की बातें होती हैं शरीर स्वस्थ हो और शरीर में बलवान होते हुए भी वो शुद्ध भी होना चाहिए एक राक्षस बल होता है एक सात्विक सात्विक भोजन खाने से जो होता है वो सात्विक बल होता है और मांस अंडे खाने से जो राक्षसों का बल होता है ये भी आपको बता देता हूं भोजन का प्रभाव पड़ता है कोई परीक्षण करके देख लो जैसा हम भोजन खाएंगे वैसा मन वैसे विचार वैसा शरीर का अंत प्रभाव पड़ता है एक व्यक्ति कहने के लहसुन तो बहुत अच्छा होता है लहसुन खाते हैं आप भी खाते होंगे हमको तो लहसुन ऐसा दिखता है कोई घर में उसको ऐसे तोड़ के रख दे तो सांस लेना मुश्किल हो जाए पर याद रखना लहसुन रोग की दवाई तो है पर भोजन नहीं है कब क्या समझे आप समझ में बात ये औषधियां तो है प्याज भी औषधि का काम करती है और लहसुन भी पर भोजन नहीं है ये आप परीक्षण कर लीजिए घी खा करके गऊ का घी खा के कमरे में आ जाइए और थोड़ा सा मसल लीजिए सुगंध उठ जाएगी और लहसुन खा के जाइए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा आप प्रयोग प्रयोग करके दे लीजिए गंध का प्रभाव पड़ता है गंध का बुद्धि में पड़ता है एक बार मेरे दांत में दर्द हो गया और मैंने आजकल की डॉक्टरों की वो गोली ले ली जो क्या कहते हैं मुझे पता नहीं जो दांत का दर्द मिटाती है पर याद रखना मैंने गोली तो खा ली और दांत का दर्द भी मिट गया पर पौन घंटा तक मैंने एडी से चोटी तक का जोर लगाया ध्यान नहीं जमा आप देखिए कितना कितना अंतर है मैं सोचता रह गया दर्द तो खत्म हो गया इससे अच्छा तो रोग वो दर्द था तभी ध्यान लगता था अभ्यास करते करते व्यक्ति अधिक से अधिक दर्द को भी रोक देता है एक सीमा तक और ध्यान को जमा लेता है पर वो गोली खाने के बीच दर्द तो नहीं रहा पर ध्यान बिल्कुल नहीं लगा वो समझ गया कि गोली के अंदर कोई नशे की चीज है वो नशे का प्रभाव हमारे नालियों पर और नशों पर बुद्धि पर पड़ता है ये जो शराब के ठेके यहां मुझे पता नहीं यहाँ वहां हरियाणा की ओर तो जगह जगह पर ठेके लगे हुए यहां का मुझे पता नहीं यहां पर ये विनाश के लिए सारे के सारे देश का विनाश करने के लिए लोग जुटे हुए हैं और बहाना ये लेते हैं कि भाई अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी शराब से धन नहीं कमाएंगे तो ये इनका लोगों का कहना है ध्यान देना आप हजार रुपए नहीं लाख रुपए कमाइए करोड़ रुपए कमाइए व्यक्ति का चरित्र चला गया तो करोड़ रुपए का क्या करेंगे आप इसलिए याद रखो शरीर को स्वस्थ रखना है बलवान बनाना है और इसके लिए भोजन का सुधार व्यायाम आवश्यक है अब चलिए परिवार की ओर आज हम बच्चों को देखते हैं बालक बालिकाओं को देखते हैं हमको आश्चर्य होता है ये जो बच्चे बैठे हैं घरों में जाके देखो आप दोहराया माता पिता न तो बच्चे के शरीर के निर्माण के विषय में सोचते इतना न उसके चरित्र के निर्माण के विषय में सोचते न उसको व्यवहारिक ज्ञान देते बच्चे को कोई योजना नहीं है न उसको सत्संग में ले जाते उसको खुला छोड़ रखा है वो कहीं जाए कहीं घूमे कुछ करे आप ध्यान दो यदि गृहस्थी व्यक्ति बच्चों को नहीं बनाता अपने बालक बालिकाओं को चरित्रवान नहीं बनाता वो महान दोषी है बहुत बड़ा दोषी व्यक्ति गृहस्थाश्रम को प्राचीन काल में यज्ञ माना जाता था उच्च उच्च कोटि का कर्म और माता पिता ये सोचते थे हम गृहस्थ में जाएंगे ऐसा ऐसा जवान बेटा बनाएंगे ऐसी बेटी बनाएंगे जो देश जाति के लिए आदर्श होगी श्री कृष्ण जी महाराज के जीवन चरित्र माता है आप कथा पढ़ी हो बताया गया कि रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ और विवाह के पीछे चर्चा चली अब क्या करना चाहिए बताया गया कि रुक्मिणी ने कहा कि मैं आप जैसा पुत्र चाहती हूं ये कहा तो श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा कि यदि ऐसी इच्छा हो तो मैं और आप विवाह संस्कार के पीछे बारह वर्ष तक ब्रह्मचरी का पालन करेंगे संयम में रहेंगे फिर संतान बनाएंगे तब मैं जैसी संतान उत्पन्न होगी उनका मुझे स्वीकार है ऐसा ही हुआ बताया और बताया जाता है जो प्रद्युमन थे ना उनके बेटे बताया गया कि उनका आकार प्रकार आकृति सारा का सारा श्री कृष्ण जैसा भू भू जैसे हो यहां तक भी बताया जाता दूर से आते तो पेशानी में भी आना मुश्किल हो जाता ये श्री कृष्ण जी आ रहे हैं उनका पुत्र आ रहा उसके लिए भी ये कहा जाता है कि फौजियों की तरह वो बना लिया चिन्ह ये मेरा बेटा आ रहा है अम्मा सोचेगी ये मेरा पति आ रहा ये गृहस्थियों का चरित्र था आज वो चरित्र नाम की चीज नहीं रह गई है मैं सारी बात सुनाऊं तो आपको लग जाएगी इतना भारी चरित्र था आदर्श थे और ये गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा आश्रम माना जाता था पर वो भूल गए आप गार्गी की कथा में सुनता हूं इतनी विदुषी इतनी वो इतनी तरक करती थी ऋषियों के पैर लड़खड़ा जाते थे ऐसे ऐसे प्रश्न करती थी गार्गी उस समय की बात है बेटी को बनाया जाता था बेटे को बनाया जाता था उसके निर्माण की कला है आपको बताता हूं यद्यपि मैं ग्रेस में नहीं गया पर आपसे मैं अधिक अच्छे बच्चों को बना सकता हूं बताओ क्या कहते हो आप नहीं बना सकता क्या है जी आप सीख लिया करो कम से कम यहाँ पे आपको सिखाएंगे और मैं घरों पर जाता हूं वहां भी मैं आधा पौन घंटा घर पर देता हूँ कि बच्चों के निर्माण में क्या क्या चीजें करनी चाहिए आपको ये बताएंगे बच्चे को कैसे सिखाया जाता है कैसे बैठना उठना उसको सारी शिक्षा देने का ढंग पद्धति अलग है आप नहीं जानते एक व्यक्ति ने कहा जी आप कभी गृहस्थ में तो गए नहीं आपको क्या पता दिन घर पर पति पत्नी झगड़ पड़े वो थे हरियाणा के है झगड़ पड़े बड़े क्रोधी और बड़े उग्र होते ना तो मैं वहां बैठा था तो मैं वहां बैठा था तो मैंने कहा माता जी वहां परिवार में सोचने के लिए जाता था माता जी देखो पति को ऐसे अपशब्द मत बोलो ये अच्छा नहीं है उसके साथ झगड़ा करना तो माता जी को मैंने रोका और पति जी भी वैसा ही था वो उससे भी भयंकर क्रोधी वो भी कुछ का कुछ कहने लगा मैंने कहा देखो पत्नी को ऐसे शब्दों का जो है प्रयोग उसके साथ नहीं करना चाहिए फिर माँ उभर के आ गई मैंने कहा माता जी ऐसा मत करो ये लोग क्या कहेंगे फिर वो पिता आ गया मैंने कहा आप ऐसा मत बोलो कहते आपको क्या पता आप कहीं गए इसमें तो गए नहीं आपको क्या पता गए तो मैं ये इसलिए बताना चाहता हूं किसी को भ्रम न हो जाए ये भ्रम न हो जाए मैं गृहस्थ में नहीं गया तो मैं मानव निर्माण को नहीं जानता आपसे बहुत अधिक अच्छा जानता हूं आपने देखना हो तो विवेक भूषण जी आए थे यहां ज्ञानेश्वर जी को देखना आप हमने तो निर्माण किया ना थोड़ा उनको देखना कभी आप ये इनमें बीए आचार्य होते उनको हम कैसे बनाते हैं उनका निर्माण कैसे करते हैं ये बहुत बड़ा विज्ञान है तो ध्यान दो माताओं याद रखो आपका कर्तव्य बनता है पिताओं का भी एक लड़के लड़की को कम से कम एक को तो देश जाति के लिए बना के खड़ा कर दो कम से कम करोगे क्या हाथ खड़ा करो प्रयास तो कर लो इतना तो कह दो कम से कम हाथ खड़ा करो अरे माताओं का एक हाथ भी खड़ा नहीं हो रहा अब कम से कम ये सोचना हम गृहस्थी है एक संतान को वैदिक धर्मी बनाएंगे एक बेटा बेटी को अपने देश जाति की रक्षा के लिए समर्पित करेंगे इतनी हिम्मत नहीं कहने की बताओ क्या बचा बचेगा नहीं भारत नहीं बच सकता भारत नहीं आपकी संपत्ति परंपराएं लुप्त हो जाएंगी हमको बिल्कुल दिखता है आप लिख लो आज से यदि हम सावधान नहीं हुए हम संगठित नहीं हुए हमने बलिदान नहीं दिए ये देश संपत्ति वेद वैदिक संस्कृति हाथ से जाएगी याद कर लो लिख लो चाहिए यदि हम संगठित हैं हम अपनी शक्ति बढ़ाएंगे बलिदान देने के लिए तैयार हैं मिलकर रहेंगे तो देश जाति धर्म वेदों की रक्षा हम करेंगे कोई संदेह नहीं आप नहीं सुनते धोखा खा जाओगे कम से कम याद रखो आज की जो स्थिति है हमारे आगे पीछे नीचे और बाहर करोड़ों शत्रु मंडला रहे हैं आप टेलीविजन का नाच देख रहे हो हमको आश्चर्य इस बात का होता है आप हमको अच्छे से अच्छा भोजन खिलाते माताएं हलवा खीर खिलाती पर वो हलवा खीर कोठी हमको अच्छी नहीं लगती क्यों देश जाति वैदिक परंपरा को मारा जा रहा है हम उस मरतीय को देखते देखते खा लेते हैं फौजी की तरह खाओ और आगे आगे भाग भाग पड़ो सैनिक जो होते हैं फौज में वो खा जाते हैं और फिर लड़ने के लिए उतर जाते हैं हम तो हम तो ये देख रहे हैं लड़ाइयां जो हो रही है ये आप पता नहीं आप कैसे उग रहे हो कबूतर की तरह क्यों जी कुछ सुन रहे या नहीं सुन रहे नहीं आ रहा समझ में अब अब हाथ खड़ा करो कि हम बनाएंगे अब तो कह नहीं थे तो कर लो ना हाँ नहीं पता नहीं चलता बिना हाथ किए तो देखो सोचने का ढंग बदलो तो मैं आपको सुना रहा था गृहस्थ का एक बड़ा प्रमुख कर्तव्य बनता है बालक बालिका को विद्वान शरीर से स्वस्थ धार्मिक ऋषि भक्त देश भक्त ईश्वर भक्त बना के तैयार है तो ये हमारा अब हम आते हैं आर्य समाज के ऊपर समाज के ऊपर आइए आपने देखा एक के दादा थे बहुत श्रद्धालु थे और वो तन बंधन से आर्य समाज के लिए लगे रहते थे आया बेटा आधा समाप्त कभी आता है कभी नहीं आया आया पूता उसने आना बंद कर दिया ये यारी समाज की स्थिति है ध्यान से सुन लो बीज ही समाप्त हो जाएगा हमने मत वालों को देखा है दूसरे मत वालों को ये छोटे छोटे बच्चे बालक और बालिका दूसरे के सत्संग में नहीं जा सकते क्या समझ में आया दूसरे के पास में वो शिक्षा नहीं ले सकते उनको उपदेश नहीं सुनने देते उनको वहां जाने नहीं देते अपना ही रटाएंगे और रटा रटा के ऐसा घुटा देते हैं उसके प्राण चले जाएंगे फिर अपने मत को नहीं छोड़ेगा ये इस समय शिक्षा दी जा रही है आप बताइए क्या करना चाहते आप खोल के देख लो पीछे ये नहीं कहना कोई बताने वाला नहीं आया उनके युवकों की अवस्था सुनो देववंद विद्यालय उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति ने बताया बड़े बड़े जवान M A B A PhD जिसको कहना चाहिए युवक पूरी तैयारी एक विद्यालय में मैंने सुना उससे तीस हजार तैयार हो रहे एक विद्यालय की घटना है जो कुरान के विद्वान बन बन करके देश और विदेश में प्रचार करेंगे जीवन की आहूति देंगे एक ही विद्यालय में तीस हजार है कितने विद्यालयों में कितने होंगे वो कितना प्रचार करेंगे अपनी परंपरा का याद रखना हमारे यहां जहां हमारा गुजरात में विद्यालय चलता है उसमें लगभग दस के लगभग है हरियाणा में चलता है उसमें दस के लगभग है उच्च कोटि के विशेष दार्शनिक विद्वान और ध्यान देना उनका पूरा खर्चा हम देते हैं घर से कोई संबंध नहीं है उनका किसी का भी ये ज्ञानेश्वर जी विवेक भूषण जी आचार्य जगत देव जी अर्जुन देव जी आदि आदि पहली पीढ़ी है लगभग चौदह आचार्य दर्शनाचार्य तैयार हुए हैं और और कई और उपाधियां हैं पर याद रखना आपका कर्तव्य बनेगा कि कम से कम एक आर्य समाज या एक व्यक्ति समर्थ हो वो तो कम से कम एक विद्यार्थी का खर्चा तो देना शुरू करो हम सारा खर्चा देते हैं एक विद्यार्थी पर लगभग हजार रुपये खर्च आता है पूरी सुविधा होती है यदि हमारे पास में करोड़ों रुपया हो पीछे तो हम हजारों को पढ़ाएंगे हजारों में से सौ तो बनेंगे पचास बनेंगे पर पीछे ध्यान नहीं दिया जाता याद रख लेना हम तो वो काम करते हैं जो रीढ़ की हड्डी है जिस देश में प्रचारक नहीं है उद्बोधक उद्बोधन देने वाले नहीं है नेतृत्व करने वाले नहीं है और वो दिख कर पे शास्त्रार्थ करने वाले नहीं है ऊंचे ऊंचे लेखक नहीं है ऊंचे ऊंचे प्रचार नहीं है वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता कभी भी आपको विद्वान चाहिए या नहीं चाहिए बोलो आपको एक अच्छे से अच्छा विद्वान चाहिए आपको अच्छे से अच्छा सन्यासी चाहिए वो सन्यासी आकाश में से थोड़ा ही टपकेगा मां अपने बेटे को देना नहीं चाहती पिता अपने बेटे को देना नहीं चाहता बड़ी विचित्र व्यवस्था है और हम मेहनत करते हैं हमको गाली देते हैं अब बताओ क्या करोगे क्या कहते हैं ये स्वामी जी ने सारे ब्रह्मचारी बिगाड़ दिए क्यों ये ब्रह्मचारी बनाते हैं अब ये भी कोई बात हुई और क्या बनाए भाई इनको ब्रह्मचारी नहीं बनाए तो बड़ी विचित्र अवस्था है अब भले दृष्टि हो कम से कम विरोध तो मत करो सहायता मत दो थोड़ी देर के लिए पर विरोध तो मत करो कम से कम आपको मैं आंतरिक भावना आंतरिक रीढ़ की हड्डी की बात सुना रहा हूं ये जो मैं आपको सुना रहा हूं ये जू की जो घटना है हमने ये जो ब्रह्मचारी बनाए और हम बना रहे हैं एक ब्रह्मचारी को लाने के लिए कितना जोर लगाना पड़ता है उनको शिक्षा देने के लिए कितना एडी से चोटी तक दिन रात उसको जूझते रहते हैं आज जो भोगवाद है भौतिकवाद है उससे हटा देना और दयानंदी बना देना कोई साधारण बात नहीं है कहना सरल है कोई एक बना के दिखा दो हमने बहुत परीक्षण किए और दर्जनों ब्रह्मचारी बनाए हैं एक युवक को बुद्धिपूर्वक शिक्षण देने के लिए उसकी सारी समस्याओं का समाधान और ऋषियों के मार्ग को उसके हाथ लगाने के लिए कितना जोर लगाना पड़ता है एक बार जाके देखो आप तो इतना याद रखो माताओं अपना बेटा दो एक बेटी को तैयार करो गार्गी बनाओ झांसी की रानी बनाओ या तो ब्राह्मण बनाओ या फिर ऊंगनानी क्या बनाओ आपको तो जागना पड़ेगा और जगह न जगह अगले को पहले पूछेंगे हम या तो ब्राह्मण बनाओ आप भी बोला करो या तो ब्राह्मण बनाओ अथवा क्षत्रिय बनाओ दो ही तो मुख्य है ना वैसे तो अपने आप बन जाते हैं ब्राह्मण बनाओ पहले वो ब्राह्मण नहीं बनेगा तो क्षत्रिय बनेगा राम जैसा बनेगा महाराणा प्रताप जैसा बनेगा या तो गार्गी बनाओ या झांसी की रानी बनाओ नहीं समझे गार्गी योगिनी विदुषी और झांसी की रानी दुष्टों के साथ तो कौन सी बनाओगी आप अपना अपना मेरा मतलब है कि उनको अपने बेटे को मन में सोचोगे मैं अपने बेटे को ऐसा बनाऊंगी मैं अपनी बेटी को ऐसा बनाऊंगी उसके मन में धारणा होगी तो बनाएगी कहां से बनाएगी नाना आजकल तो नाच गाने वाला बनाओ भाई नाचना गाना तुम तो मत छोड़ दो आज तलवार भाला तोप जो कुछ है उससे नाच गाने की बात फेंक दो दूर वीरता की बात सिखाओ इनमें इनको संघर्ष करने की बात सिखाओ देश जाति की रक्षा हमने करनी है तो याद रखना अपने आर्य समाज में मैं आपको सुना रहा था समाज को इतने सन्यासी चाहिए इतने ब्रह्मचारी चाहिए आएंगे कहां से अपने बेटे को नहीं पढ़ा सके आप अपना करो और कम से कम एक बेटे का खर्चा दो चलो कौन देगा ये भी बताओ अपना अपना अपने बेटे को भी तो पढ़ाते हैं आप दो तीन छह को पढ़ाते हैं और आप देश के लिए हम आपको पढ़ाने का पढ़ा लिखा के विद्वान देंगे आप हमारा ये खर्चे की पूर्ति कर दो बोलो कौन करेगा घबराओगे एक नहीं तो पांच मिलके कर दो भाई कुछ नहीं कुछ तो आप दस मिलके कर दो कर दोगे ना दस तो देखो कहीं भी जाकर के लिए कहने के लिए तैयारी तो में दस नहीं मिलकर तो कर देंगे कम से कम आपको करना ही पड़ेगा सेना के लिए कितना खर्च होता है पता है साठ प्रतिशत होता है या पचास सारा मिला के सेना के ऊपर भारत की सेना के ऊपर कितना खर्च होता है कल्पना कीजिए आप साठ प्रतिशत है या पचास प्रतिशत खर्चा है उसका तो सेना का सबको मिला के और जब हम सुरक्षित हैं आज क्या समझे आप इतना खर्चा करने के पश्चात इतनी संपत्ति झोंकने के पश्चात आज हम जीवित हैं सुरक्षित हैं अन्यथा हमको गाजर मूली की तरह काट देते लोग याद रख लेना आपको झोंकना ही पड़ेगा तो इसलिए ये मैंने बात बतलाई समय देख लेता हूं मुझे पता ही नहीं चले कभी है है अच्छा क्या सारे सहमत है समय बढ़ाने में हाथ खड़ा करो अधिकारी लोग हैं सहमत है अधिकारी लोग हैं तो थोड़ा सा बढ़ा देंगे अब मैं इतना तगड़ा व्यक्ति हूं थकूंगा नहीं एकदम और ये आपको मेरा जो शरीर दिख रहा ना जीवाणु से तो मैं अभी तगड़ा हूं यद्यपि बीच में कुछ वायु का रोग बढ़ गया था और उससे मैं व्यायाम नहीं कर पाया सत्तावन वर्ष की अवस्था तक खूब व्यायाम करता था हजारों दंड बैठे गए और कुश्ती भी करता था तो व्यायाम छूट गया तो भोजन भी छूट गया और गंभीर विषयों को पढ़ाना दिन रात दौड़ धूप तब जाके तब भी इतना तगड़ा हूं कमजोर नहीं हूं मुझे और सच वर्ष की अवस्था चल रही है मेरी तो ध्यान दो मैं आपको सुना रहा था ये आपको करना पड़ेगा योजना आज मैं योजनाबद्ध आपको बात सुना रहा हूं आज हमारे देश की क्या स्थिति है आज हमारे समाज की क्या स्थिति है हमारी भाषा की क्या स्थिति है हमारी संस्कृति की क्या स्थिति है हमारा आंतरिक जो युवा पीढ़ी है वो कहां सोचती है क्या वो मानती है वो कहां जा रही है और जो विदेशी लोग भारत को कहां से उखाड़ने की सोच रहे हैं भारत की जड़ें कांप रहे हैं विदेशी लोग उन जड़ों को काटने की योजना पूरी की पूरी बिल्कुल सतत प्रयासशील है विदेशी लोग तो है ही हैं भारत में जो रहने वाले हैं खाते भारत का है रहते भारत में संपत्ति के मालिक बने बैठे करोड़ों लोग और योजना यह है कि इन भारतीयों को मार देंगे या गुलाम बनाएंगे राज हमारा होगा ये करोड़ों लोग अंदर बैठे हुए सोच रहे आप आंख खोलो मत खोलो हमको अच्छी तरह दिखता है माताओं बहनों तैयार हो जाओ नाचने गाने से काम में कुछ नहीं है फेंक दो नाचने गाने को इनको कह दो राष्ट्रपति को दे दो नाचना गाना बेकार हाँ, आपको पता है पीछे के इतिहास को पढ़ के देखो जो एक हजार के लगभग है विदेशियों के राज्य का इतिहास यदि पढ़ लोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे हो सकता है आप रोने लग जाएंगे उसको देख भारत का विनाश किया संपत्ति लूटी गाजर मूली की तरह काटे गए अंग्रेजों का राज्य अंतिम है एक हजार के लगभग पड़ता है उसको पढ़ के तो देख लो कम से कम छू के तो देख लो इतिहास को आपको नींद आनी मुश्किल हो जाएगी बस हमको तो ये दिखता है कई बार तो सोचते हैं ये जागने वाले तो है नहीं इनको इनको सोए रहने दो पर वो बात याद नहीं आती परमात्मा जब शक्ति को मनाना नहीं छोड़ता और चाहिए रहता है तो हम क्यों छोड़ें हम भी आपको जगाना नहीं छोड़ेंगे जगाना नहीं छोड़ेंगे जागो मत जागो नहीं जागो तो पानी डाल देंगे सिर पर सीधी सी बात है आप क्या सोचते हो मैं तो ये चाहूंगा जैसे मैं चलता हूं ऐसे आपको चलना पड़ेगा बोलो तैयार हो या नहीं है हाँ जी आपने पंडित लेखराम जी को देखा सुना है ना गृहस्थी थे वो कितना भी चित्र जीवन है अहो उन पंडित लेखराम जी के जीवन को देखो और महात्मा मुंशी राम स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन को देखो कैसे भी चित्र व्यक्ति मैं गृहस्थियों की बात सुना रहा हूं आप तो कह देते हैं जी हम नहीं कर सकते क्यों क्योंकि हम गृहस्थी हैं भाई संध्या किया करो नहीं जी नहीं कर सकते क्यों क्योंकि हम गृहस्थी हैं व्यायाम किया करो नहीं व्यायाम नहीं कर सकते क्यों क्योंकि हम गृहस्थी हैं अरे समाज में आया करो नहीं आ सकते क्योंकि हम गृहस्थी हैं झूठ मत बोला करो नहीं नहीं बोलना पड़ता है क्योंकि हम गृहस्थी हैं बखे से उठा करो बखे से नहीं उठ सकते क्यों